परम पिता परमात्मा का स्मरण सबके स्वामी परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम किस किस रूप में देखें परमात्मा को किस किस रूप में स्वीकार करें ये परमात्मा को दिए गए बहुत से संबोधनों से हमें पता लगता है विनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में महर्षि दयानंद ने व्याख्या करते हुए बहुत से संबोधन दिए हैं उनमें से एक संबोधन और आज लेते हैं महर्षि लिखते हैं हे सर्व स्वामीन हे सबके स्वामी हे संपूर्ण स्वामी स्वामी हम लोग के अंदर उसे कहते हैं जो हमारा नेतृत्व करता है जो हमारा राजा है जो हमारी रक्षा करता है जो हमारी व्यवस्था करता है किसी वस्तु का जो मालिक होता है जिसके अधीन वो वस्तु होती है वो व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी कहलाता है जिसका अन्य वस्तुओं पर अधिकार होता है स्वामित्व होता है जिसके अनुसार अन्य चीजों का उपयोग किया जाता है जिसके निर्देशन में अन्य वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं रखी जाती हैं उसे हम उस वस्तु का स्वामी कहते हैं जिसके निर्देशन में बहुत से लोग चलते हों राजा के निर्देशन में परिवार के मुखिया के निर्देशन में वो व्यक्ति उन सब का स्वामी कहलाता है परमात्मा को यहां स्वामी कहा गया हे स्वामिन और विशेषण महर्षि ने जोड़ा हे सर्व स्वामिन हे सबके स्वामी सर्व शब्द में सभी मनुष्य आ गए मनुष्य से भिन्न समस्त प्राणी आ गए तो समस्त चेतन जगत का स्वामी वो परमात्मा है दूसरा जड़ जगत आ गया जितना भी कार्य जगत है निर्मित है उस सब का स्वामी वो परमात्मा है लेकिन जो मूल तत्व है प्रकृति जिससे ये कार्य जगत बना और मूल आत्मा जो विभिन्न शरीरों में आती है ये दोनों भी परमात्मा की तरह से नित्य हैं सदा से विद्यमान है परमात्मा भी सदा से विद्यमान है इनका भी स्वामी परमात्मा है एक स्वामित्व जो मूल्य चुका करके प्राप्त होता है खरीदी जाती है कोई वस्तु या व्यक्ति उस तरह से तो परमात्मा ने न मूल प्रकृति को खरीदा है किसी से न आत्माओं को खरीदा है क्रय नहीं किया इस दृष्टि से परमात्मा इनका स्वामी नहीं है लेकिन परमात्मा प्रकृति को मूल प्रकृति को कार्य जगत में बदल सकता है बदलता है वो पूर्ण नियंत्रण के साथ इससे मूल प्रकृति से विभिन्न चीजों को बना सकता है बनाता है यही उसका स्वामित्व है परमात्मा अपनी बुद्धि ज्ञान के अनुसार अपने प्रयोजन के अनुसार जीवात्माओं के उद्देश्य से इस प्रकृति को बना सकता है ये उसका स्वामित्व है यही उसका अधिकार है ये उसका नियंत्रण है प्रकृति पर इसलिए मूल प्रकृति का भी वो स्वामी है हम ये प्रश्न यहां नहीं उठा सकते कि परमात्मा को किसने मूल प्रकृति का अधिकार दे दिया क्या उसने किसी से खरीदा था क्या उसने इसको बनाया था मूल प्रकृति का अधिकार स्वामित्व तो परमात्मा को मिल कैसे गया तो स्वामित्व तो अधिकार इसी रूप में है कि वो इसको बना सकता है नियंत्रित रूप से विभिन्न चीजें बना सकता है वो इसका उपयोग अन्यों के लिए कर सकता है और ये भी स्वामित्व का एक प्रकार है इसलिए परमात्मा मूल प्रकृति का भी स्वामी है जीवात्मा का भी वो स्वामी है आत्माओं का भी वो स्वामी है यहां भी वही बात घटेगी परमात्मा ने आत्माओं को खरीदा नहीं है किसी से आत्माएं बिक नहीं गई है परमात्मा को कि परमात्मा अपना आदेश चला रहा है वो उसका स्वामी बन बैठा है परमात्मा जीवात्माओं के लिए व्यवस्थाएं करता है जीवात्माओं की कामना पूर्ति के लिए व्यवस्था करता है उनके प्रयोजनों को सिद्ध करता है नियमन करता है इसलिए परमात्मा जीवात्माओं का भी स्वामी है स्वामी शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भक्त तो स्वामी शब्द का प्रयोग कर लेता है परमात्मा के लिए उसे स्वीकार्य होता है और हमें स्वीकार करना होता है हे स्वामी लेकिन स्वामी शब्द एक तर्जना भी देता है एक दुख भी देता है एक पराधीनता देता है तो बहुत से मनुष्य परमात्मा को स्वामी के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते वो कैसे बन गया मेरा स्वामी उसको किसने अधिकार दे दिया मेरे पर नियम चलाने का मेरे पर व्यवस्था करने का मैं स्वतंत्र हूं हर आत्मा स्वतंत्रता प्रिय होता है सामान्य रूप से हम किसी का स्वामित्व तो स्वीकार नहीं करते ये हमारी स्वाभाविक इच्छा रहती है हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं अपने नियंत्रण में रहना चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसा करें ये हम चाहते हैं तो जो स्वाभिमानी आत्माएं होती हैं अपने आप पे विश्वास रखती हैं वो सोचती हैं परमात्मा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको स्वामी मानने की आवश्यकता नहीं है क्यों अपने ऊपर एक बोझ डाला जाए ये जीवन मिला है मैं जैसा जीवन जीऊंगा जीऊंगा इसमें परमात्मा का हस्तक्षेप कहां है उसको स्वामी मानने ना मानने से अंतर कहां आता है और वो स्वामी दूसरों को स्वीकार नहीं कर पाते दूसरे को स्वामी स्वीकार करना एक दबाव की बात है एक बोझ की बात है तो वो परमात्मा को स्वामी के स्थान पर नहीं रखते वो केवल एक ही दृष्टि से स्वामी को देखते हैं कि जो हमारे पे नियंत्रण करे जो हमारे लिए नियम ला दे संविधान करे ऐसा करो और ऐसा मत करो जो हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे वो स्वामी जो अपने अनुसार हमें चलाए वो स्वामी हमारी इच्छा काम नहीं करेगी हम क्या करना चाहते हैं उसको रोक करके हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है ये प्रवृत्ति मात्र उन कुछ व्यक्तियों पर ही नहीं लागू होती है उन्हीं में नहीं होती है इस तो सब में है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर होता है स्वामी हम दूसरे को कब स्वीकार करते हैं स्वामी नियंत्रण करता है और जिस स्वामी को हम नहीं चाहते जिसका नियंत्रण नहीं चाहते वो तब जब उसका नियंत्रण हमारे लिए हानिकारक होने लगता है हमारे लिए बाध्यकारी होने लगता है जो व्यक्ति ये देखता है कि ठीक है हम दूसरे को स्वामी नहीं माने तो क्या स्थिति रहेगी यदि हम जीवन में समाज में भी किसी को स्वामी न माने परमात्मा को भी न माने तो क्या स्थिति रहेगी किसको स्वामी मानेंगे तो कहेंगे हम स्वयं अपने स्वामी हैं जब हम स्वयं अपने स्वामी हैं तो दूसरे भी अपने स्वामी होंगे तो स्थिति बनेगी हर व्यक्ति हर आत्मा स्वयं अपना स्वामी है उसको दूसरे का नियंत्रण नहीं चाहिए वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा वो स्वयं अपना स्वामी है और जब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है तो वो केवल अपना हित देखता है केवल अपना हित देखता है इसके साथ ये बात जुड़ी है कि वो अपना हित देखते हुए अपने हित के कारण यदि दूसरे की हानि हो रही हो तो उस पर विचार नहीं करेगा यदि हम अपना हित चाहते हैं अपना स्वामित्व तो चाहते हैं तो दूसरा भी तो अपना हित चाहता है स्वामित्व तो चाहता है उसका भी हमें आदर करना चाहिए लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने को स्वामी मानता है उसकी प्रवृत्ति ये बनेगी वो दूसरे का ध्यान नहीं देगा और दूसरे को बाधित करेगा मान लीजिए वो स्वयं अपना स्वामित्व स्वीकार कर लेता है और दूसरे को बाधित नहीं भी करता लेकिन क्या यह संभव है दूसरे भी उसी जैसे श्रेष्ठ हों कि वो उसको बाधित ना करें जब दूसरे भी अपने अपने स्वामी बनेंगे अपना अपना हित साधेंगे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे जो मन में आए वो करेंगे तो दूसरों की ये स्वायत्तता दूसरों का उनका अपना स्वामित्व क्या उस व्यक्ति को बाधित करेगा अवश्य करेगा और दूसरा व्यक्ति हमारे से अधिक धन वाला बल वाला ज्ञान वाला हो सकता है और ऐसे में जब दूसरे का स्वामित्व तो, उसका अपना स्वामित्व तो, उसकी अपनी स्वतंत्रता हमें बाधित करेगी और हम स्वयं अपने को स्वतंत्र मानते हुए भी उसे पार नहीं पा पा सकते पा नहीं सकते तो क्या करेंगे तब हमें दूसरे की सहायता की अपेक्षा होती है हम अनेक मिलकर के और कुछ समाधान करते हैं जब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है लेकिन मैं स्वतंत्र भी रहना चाहता हूं मैं अपने हित की कामना भी करना चाहता हूं अपने हित के लिए कार्य करना चाहता हूं किंतु स्वयं मैं कर नहीं सकता मैं स्वयं पूर्ण स्वतंत्र रह नहीं सकता पूर्ण स्वतंत्र रहते हुए मैं अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता यह भी एक तथ्य है ये भी एक सत्य है जो व्यक्ति जितनी शीघ्र स्वीकार कर ले उतना अच्छा है तो दूसरे के द्वारा हमारे स्वामित्व में हमारी स्वतंत्रता में जब बाधा आए तब किसी की आवश्यकता होती है और जब हमारे को न्यूनता होती है तब भी हमें दूसरे की आवश्यकता होती है और ऐसा केवल मेरे साथ या हमारे साथ ही नहीं होता दूसरों के साथ भी होता है वो दूसरा व्यक्ति अन्य को भी बाधित करेगा अब यहां पर एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है अब यहां पर कुछ नियम की आवश्यकता होती है जिससे कि सबका व्यक्तिगत हित सध सके और दूसरे स्वच्छंद हो करके अन्यों की स्वतंत्रता में बाधा ना कर दें इसके लिए नियम और व्यवस्था चाहिए और जब नियम और व्यवस्था होगी तो उसका नियामक और व्यवस्थापक भी होगा वो आवश्यक है ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वतः प्रसन्नता से उस स्वामी को नियामक को स्वीकार कर लेता है क्योंकि वो स्वामी वो नियामक हमारा हम सबका हित कर रहा है ये हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए है हमें परतंत्र बनाने के लिए नहीं है हम सबकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थापक है और जब व्यक्ति स्वामी को इस दृष्टि से देखता है ये मेरा रक्षक है इसके रहते मैं अपनी गतिविधियां स्वतंत्रता से कर पा रहा हूं यदि कोई मेरे साथ अन्याय करता है तो उसका फिर प्रतिफल होता है दूसरों को अन्याय करने से रोका जाता है मेरे लिए व्यवस्था की जा रही है मेरी सुरक्षा की जा रही है सबकी सुरक्षा की जा रही है ऐसे में आत्माएं स्वतः किसी व्यक्ति को स्वीकार कर लेती और समाज में ऐसा ही होता है परिवार में हमारा एक स्वामी होता है समाज में एक कोई स्वामी होता है नगर में राष्ट्र में संस्था में स्वामी होता है और हमें कोई अड़चन नहीं होती वहां पर क्योंकि वो हमारा हित कर रहा है और ये स्वामी का लक्षण है कि वो हित करेगा रक्षा करेगा ऐसे स्वामी को स्वीकारने में कोई बाधा नहीं होती है ऐसे स्वामी को तो स्वीकारना ही होता है और जिस क्षण व्यक्ति को यह अनुभव आ जाता है अपनी अल्पज्यता अल्प सामर्थ्य का और मेरा हित वास्तव में किससे सिद्ध होगा वो उस अहंकार से हट जाता है कि मुझे दूसरे का नियमन नहीं चाहिए मैं तो स्वयं करूंगा ये उस व्यक्ति का अहंकार है जो ये सोच लेता है कि मैं सब कुछ स्वयं कर सकता हूं मुझे किसी के नियम की आवश्यकता नहीं है एक प्रारंभिक अहंकार है दूसरे की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे हानि प्रतीत होती है नीचापन प्रतीत होता है लेकिन जब व्यक्ति उसमें हित समझ लेता है तो उसे स्वीकार कर लेता है अब ये स्वामी के साथ हमारा संबंध भिन्न प्रकार का हो गया ये बलात् किसी नियम को मनवाने वाला स्वामी नहीं है ये हमारे हित के लिए काम करने वाला स्वामी है ये स्वामी की परिकल्पना ये व्यवस्था वैदिक धर्म में और ऐसा ही परमात्मा स्वामी है इसलिए जो परमात्मा को स्वामी बोलते हुए कुछ अपने पे आक्रमण समझते हैं दबाव समझते हैं उनकी एक दृष्टि है परमात्मा केवल अपने लिए कोई नियम हमारे पे लगाता हो ऐसा नहीं है परमात्मा के नियम हम सबके लिए हैं हमारे हित के लिए हैं और जब साधक ये समझ लेता है तो परमात्मा को स्वामी स्वीकार लेता है उसे दबाव अनुभव नहीं होता परमात्मा को स्वामी स्वीकारते हुए उसे परतंत्रता अनुभव नहीं होती परमात्मा को स्वामी स्वीकारते हुए उसे और अधिक स्वतंत्रता अनुभव होती और अधिक सुरक्षा और अधिक उन्नति के अवसर उसे प्रतीत होते तो परमात्मा सर्व स्वामी है सबका स्वामी है मेरा तो है ही जैसे परमात्मा मेरा स्वामी है ऐसे वो अन्यों का भी स्वामी है सर्वप्रथम हम अपना स्वामी परमात्मा को स्वीकार कर लें और स्वामी का संबंध एक बहुत आदर का संबंध है ये दबाव का संबंध नहीं है ये परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया संबंध नहीं है परमात्मा अपना स्वामित्व हमारे पर स्थापित कर रहा है ऐसा नहीं है ये हमारे द्वारा स्वीकार किया गया परमात्मा का स्वामित्व है संसार में हम स्वामी किसे कहते हैं किसे स्वामी मानने लगते हैं कौन व्यक्ति स्वामी के पद पर चला जाता है तो स्वामी शब्द का एक अर्थ होता है जो ऐश्वर्य वाला है महर्षि पाणिनि ने स्वामी शब्द का निर्माण इस अर्थ में किया एक सूत्र बनाया उन्होंने स्वामिन ऐश्वर्य ये स्वामिन शब्द ऐश्वर्य अर्थ में बनाया गया है जिस व्यक्ति का स्व यानी ऐश्वर्य है वो स्वामी है जो ऐश्वर्य से युक्त है वो स्वामी है ये एक अर्थ हुआ ऐश्वर्य विविध प्रकार के होते हैं धन भी एक ऐश्वर्य है बल एक ऐश्वर्य है पद एक ऐश्वर्य है नियंत्रण एक ऐश्वर्य है दूसरों की रक्षा कर पाना एक ऐश्वर्य है ज्ञान एक ऐश्वर्य है ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्य हैं तो परमात्मा ऐश्वर्यों से युक्त है समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है इसलिए वो सर्वस्वामीन है स्वामी है परमात्मा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है इस दृष्टि से वो स्वामी है ये भी एक इसका अभिप्राय है तो दो तरह से हम स्वामी शब्द का प्रयोग करते हैं एक ऐश्वर्य वाला और एक जो हमारा रक्षक है पालक है व्यवस्थापक है वो स्वामी यदि इन दोनों को हम देखेंगे तो समानता ही एक लगेगी समाज में जितने भी स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं या तो धनवान व्यक्ति होता है जो स्वामी होता है जो बहुत से सेवक रखता है उनको वेतन देता है उनके भरण पोषण की व्यवस्था करता है उन सेवकों के लिए नौकरों के लिए वो स्वामी है गांव में कोई व्यवस्था करता है वो स्वामी है किसी के पास बल है और वो सुरक्षा प्रदान करता है दुष्टों से अन्य घातक प्राणियों से वो स्वामी स्वतः बन जाता है हम उसको स्वामी मानने लगते हैं तो धन भी एक ऐश्वर्य है बल भी एक ऐश्वर्य है इसी तरह ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है जिसके पास ज्ञान है उसे हम स्वामी मानने लगते हैं उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञान से हमारी रक्षा होती है हमारी उन्नति होती है तो जिस जिसमें ऐश्वर्य होता है वही स्वामी बन पाता है जिसमें ऐश्वर्य नहीं होता वो स्वामी नहीं बन सकता किसी न किसी प्रकार का ऐश्वर्य होगा वो स्वामित्व जो अन्यों को सहज स्वीकार्य होता है बलात् नहीं दूसरों पर आरोपित स्वामित्व नहीं वैसे जो आरोपित स्वामित्व वाले होते हैं जो अपने को स्वामी सिद्ध कर देते हैं स्वयं भू स्वयं अपने आप को स्वामी घोषित कर देते हैं वो भी कुछ ना कुछ आधार रखते हैं तभी वो टिक पाते हैं लेकिन उनके यहां संघर्ष सदा चलेगा वो अपने को स्वामी कहेंगे दूसरे स्वीकार नहीं करेंगे और संघर्ष होगा जो बलपूर्वक स्वामित्व स्थापित करते हैं अपना वे भी धन बल पद यश ज्ञान आदि से युक्त होते हैं नहीं तो दूसरे पे स्वामित्व तो स्थापित किया ही नहीं जा सकता तो उचित ढंग से स्वामित्व हो चाहे अनुचित ढंग से उसमें कुछ ना कुछ ऐश्वर्य तो रहेगा तो स्वामी शब्द का एक अर्थ ऐश्वर्य से जो युक्त है और दूसरा जो हमारा नियंत्रक है प्रभु है अधिकारी है नेता है जिस जिसमें ऐश्वर्य होगा वो वो उस दृष्टि से भी स्वामी है और दूसरों के लिए हितकारी होता है नियंत्रक होता है इसलिए भी दूसरे उसे स्वामी स्वीकारने लग जाते हैं परमात्मा दोनों दृष्टियों से स्वामी है अनंत ऐश्वर्य से वो युक्त है इसलिए वो स्वामी है और हमारा हित करता है एक भक्त एक साधक परमात्मा के साथ स्वामी का संबंध स्वयं स्थापित करता है उसे प्रसन्नता से अपना स्वामी स्वीकार करता है बलपूर्वक स्थापित किया गया स्वामी यदि हम देख रहे हैं परमात्मा को तो ये ईश्वर के साथ सही संबंध नहीं बनाए हम अनिच्छा पूर्वक उसको स्वामी स्वीकार रहे हैं और ये परमात्मा को हे सर्व स्वामीन स्वीकारते हुए भावना उच्च भावना नहीं है एक सामान्य भावना है हमने मान लिया है मजबूरन हमें करना पड़ेगा नहीं तो और दंड देगा वो जैसे से लोक के अंदर कोई अधिनायक होता है जबरदस्ती स्वामी बन जाता है अगर कोई उसका स्वामित्व स्वीकार नहीं करता है तो उसको वो ताड़ित करता है मारता है उसको उसकी वस्तुएं छीन लेता है तो उस दुख से बचने के लिए व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है ना चाहते हुए भी वो स्वामित्व तो स्वीकारता रहता है लेकिन अनिच्छा पूर्वक यदि भक्त के मन में साधक के मन में यह भावना बनी है कि परमात्मा स्वामी है अगर मैं कुछ उल्टा सीधा करूंगा तो वो मुझे दंड देगा नकारात्मक रूप से दुख देगा और मैं बच ही नहीं सकता मैं बचना तो चाहता हूं परमात्मा से लेकिन मैं बच नहीं सकता परमात्मा से इसलिए परमात्मा स्वीकार्य है ये एक स्तर तक ठीक है लेकिन भक्ति की उच्च स्थिति में जब हम जाएंगे तब ये भाव भी बाधक प्रतीत होगा मैं परमात्मा से बच नहीं सकता इसलिए परमात्मा मुझे स्वीकार्य है इसलिए वो स्वामी के रूप में स्वीकार्य है नहीं परमात्मा के अलावा मुझे मुझे और कोई आधार नहीं है परमात्मा के अलावा मेरे लिए कोई सुरक्षा नहीं है परमात्मा से अधिक मेरा हित चिंतक नहीं है और समस्त ऐश्वर्यों से वो युक्त है और उसका सारा ऐश्वर्य हम सबके हित के लिए लगा हुआ है इसलिए वो मुझे स्वीकार्य है परमात्मा को सबसे बड़ा स्वामी स्वीकार कर लेना हे सर्व स्वामी समाज में जिनको हम स्वामी मानते हैं उतने उतने अंश में वो हमारे स्वामी होते हैं और वो सहज स्वीकार्य भी होते हैं और वो भी आवश्यक हैं जीवन के लिए किंतु साधक जब ये स्वीकार करता है कि परमात्मा सर्वस्वामी है ये जितने स्वामी हैं उन सबका स्वामी भी वो स्वामी है उन सबका भी वो स्वामी है हे सर्व स्वामी आप स्वामियों के भी स्वामी हो और जब ये दृष्टि साधक के मन में रहेगी तो वो अन्य स्वामियों को स्वामी स्वीकारते हुए सदा इस बात का ध्यान रखेगा कि इनका स्वामी भी वो परमात्मा है सामान्यतः हमारी प्रवृत्ति होती है हम स्वामी के निर्देशों को स्वीकार करते हैं हमें वो हितकारी लगता है और ऐसे में कभी उसका कोई नियम हितकारी भी लग रहा हो तो भी हम स्वीकार लेते हैं कि इतना सब हमारे लिए कर रहा है तो चलो इतनी कोई बात ठीक भी नहीं है तो भी हम मान लेते हैं कुल मिला के हम उसमें हित देखते हैं इसलिए मान लेते हैं वो एक सीमा तक स्वीकार्य होता है हमें लेकिन जब साधक उन स्वामियों को भी लोक के स्वामियों को भी परमात्मा के स्वामित्व में देखता है तो उनको उनकी उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जो परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है जैसे कोई छोटा अधिकारी उस देश के संविधान के अनुराग अनुकूल कार्य कर रहा हो हमें पता है कि इसके ऊपर ये अधिकारी है और ये संविधान है अब वो अधिकारी जो बात कहेगा वो जो कि तो स्वीकार्य नहीं होगी हम ये विचार करेंगे कि ये जो बात कह रहा है ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है ये ऊपर के अधिकारी या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के अनुरूप है या नहीं है ये नियम उसके अनुरूप है या नहीं है तो हमें स्वीकार्य होता है नहीं तो हम उसको विरोध करेंगे क्योंकि ये अकेला स्वामी नहीं है इसके ऊपर भी स्वामी है अब ये बात माता पिता गुरुजन अन्य व्यवस्थापकों राजा न्यायाधीश सब पे लगती है यदि व्यक्ति परमात्मा को सर्व स्वामी स्वीकार नहीं करेगा तो लोक में जो स्वामी है उनको ही स्वामी स्वीकार करेगा क्योंकि उसे पता है कि यही सबसे बड़ा है इससे बड़ा कुछ नहीं है इसलिए इसी के अनुसार मुझे चलना है जो भी है लेकिन चूंकि मनुष्य फिर स्वार्थ को रखता है अज्ञानता को रखता है वो हमारा अहित कर सकता है उसका अपना भी स्वार्थ है ऐसे में वो हमारा या अन्यों का अहित कर सकता है ऐसा कोई निर्णय ले सकता है पर परमात्मा के साथ चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए साधक परमात्मा को पूर्ण रूप से स्वामी स्वीकारता है स्वीकार कर सकता है हम परमात्मा के अतिरिक्त और किसी को पूर्ण स्वामी स्वीकार कर ही नहीं सकते और जब जब हम परमात्मा को छोड़ करके अन्यों को स्वामी स्वीकार करते हैं उतनी उतनी बाधा और उतनी उतनी उन्नति में कमी हमारी होती है उतना उतना हम अधर्म से युक्त भी हो जाते हैं हमें लौकिक स्वामियों से भय लगता है डर लगता है पता है हमें ये बात गलत है लेकिन फिर भी हम स्वीकार करते हैं हमें डर रह लगता है ये कुछ हानि ना करते मेरी और ऐसे में हम अधर्म को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन जब साधक के मन में परमात्मा सर्वस्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हो तो उसे फिर भय नहीं ये जो स्वामी दिखाई दे रहा है ये जो माता पिता स्वामी दिखाई दे रहे हैं ये जो प्रबंधक हैं ये जो आचार्य हैं ये जो राजा है ये जो हमारे को स्वामी दिखाई दे रहे हैं इन पर भी कोई बैठा है इनका भी कोई स्वामी है अगर ये कुछ गलत करेंगे मेरी हानि करेंगे तो इनसे ऊपर बैठा हुआ स्वामी सर्वोच्च स्वामी सर्व स्वामी मेरी रक्षा करेगा इसलिए इनके आधार पर कुछ विपरीत करने की मुझे आवश्यकता नहीं है और वो निर्भयता का अनुभव करेगा ये स्वामी यदि गलत व्यवहार करते भी हैं तो करने दीजिए हमारा बस नहीं चल रहा है हम अल्प सामर्थ्य वाले हैं हम स्वामी नहीं हैं लेकिन वो निश्चिंत रहता है फिर भी तो परमात्मा को स्वामी स्वीकार करना सर्व स्वामी स्वीकार करना न केवल इसलिए कि वो ऐश्वर्यों से युक्त है इसलिए कि वो हमारी सारी व्यवस्था करता है वो वास्तव में स्वामी बनने के योग्य है अधिकारी है और हम उसको स्वामी स्वीकार कर रहे हैं वो नहीं थोप रहा है कि आप स्वामी स्वीकार करो वो हमारे हित के लिए ही कहेगा हम उसको अपना स्वामी स्वीकार कर सकें जितनी व्यापकता से जितनी पूर्णता से परमात्मा को स्वामी स्वीकार करेंगे उतना ये हमारा मार्ग प्रशस्त होगा तो महर्षि का संबोधन है हे सर्वस्वामीन एक भक्त के लिए एक आर्य के लिए ये भावना मन में होना आवश्यक है भावना को रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ